बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े और वो जिन्होंने जगह दी और मदद की वो एक दूसरे के वारिस हैं और वो जो ईमान लाए और हिजरत न की तुम्हें उनका तरका कुछ नहीं पहुंचता जब तक हिजरत न करें और अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है मगर ऐसी कौम पर کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے